Three, six, eight. करने के खिलाफ मेरे जीवन विशेष रूप से प्रकट थी ऐसी कुछ जीवन का हासिल कर लिया तो वे अत्यंत प्रभावशाली हुए किसी काव्य की रचना में तीन वस्तुएं खबर होती है माने काव्य की रचना करने में तीन वस्तुएं पहले पावन होती है में अपनी भावना को प्रकट करने की सामर्थ्य होती है एक्सप्रेशन के साथ कार्य के विषय में क्लोजिंग देने की बात करी इंग्लिश हिंदी उसके बाद फिर अपने व्यक्ति की तरह एक्सप्रेशन के साथ और वो एक्सप्रेशन करने की सामर्थ्य हर एक में होती है ये किसी किसी में तो शब्द ये किशोर को याद किया या निर्गुणता की प्राप्ति होती है शास्त्र के साथ साथ जो लोक दर्शन उसका दर्शन करके क्योंकि साहित्य के विषय में बात कही जाती है कि साहित्य समाज का Tapi biasanya diberi publik pasalnya kali belum buka ini. Jadi kita mengatakan listening to lectures. Shiva, आज जिस श्लोक के लिए हम शासन करें कितने थे विश्व भरोसा विश्व लोगों की जनता बनी तो हम भरोसा आपने एक कभी बड़ी उदाहरण पर खड़े से और आश्चर्य को पकड़ कर रहे हैं अद्भुत तौर पर पकड़ रहे हैं एक सीधी सी जो बात है उसको बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया भाव लेते हैं कि श्री राधिका में कृष्ण भगवान जो ज्यादा भाव रूप हो रहा है उस पूरा भाव में विभिन्न भावों को विभिन्न भावों को उसने अपने आते अर्जनों की भीषण लाभ किया इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अर्जुन और आप उसमें प्रेरणा सफल और उसको बांध दिया इसको शेष भी करना है पंचम से उसको तो पहली बार है से श्रीराम है उसको उसके लिए श्री पौर्णमासी जी ने श्री विश्वास द्वारा श्री की क्रिया विश्वास द्वारा बनने वाला ये बहुत चिंता तो जिनका जो ध्यान दिया जो प्रेरक से पूर्ण उसने राजस को उसने अपनी जिंदगी की अजय की है वो उसके नाम दी और अध्यक्ष के निर्मत इसलिए कृष्ण आप बिल्कुल चिंता न करो विशुद्ध इससे ईश्वर विशुद्ध हो आप बिल्कुल निश्चित हो जाओ निश्चित हो इस प्रकार कितने लोगों से उस दुख को उससे पाल दिया है अब घटना में कहा जा रहा है और तुम निश्चित हो रहा है कुछ तो उनका जो विपरीत लक्षण में जो अर्थ कर रहा है वो अर्थ ये कर रहा है कि विपरीत लोग हैं तो दुख में दुख है वो अंदर अपने सारे दुख में दुख में से प्राप्त हो रहा है दुख वो सोच रही है वो भाग रही है इसे हम चिंता करने की जरूरत नहीं है तो इतने पहले चिंता आवश्यक है शब्द में स्वीकृति प्रकट की हुई है और हर और के साथ साथ इसमें जो पृथ्वी कक्षा बिल्कुल और उनका जो अर्थ है बिल्कुल अर्थ कामों का प्रयोग करते हुए बिल्कुल कक्षा में वाला सूत्र है अक्षरों की बने बल बदलने वाला व्याख्यान बदलने वाला और आंखों से आंसू की गति बढ़ती तो अक्षर पर व्याख्यान व्याख्यान को आप बदलने वाली व्याख्यान की बल पर आंसू जो आंसू उसके बदल कर बह रहे हैं वो बदल रहे हैं आप उसको ऐसे उनका उनका मतलब बंद हो गया माने मन पावर को उसने बांट दिया है चिंता था जितनी भी चिंता थी उसको खुद जनों को समझ कर दिया माता पिता को शिक्षकों को स्थिति को इन गुरुजनों को अर्पित कर दिया इसलिए तो आज कल की बात है आज कल में नहीं गुरुजनों तो में परम सुख को प्राप्त कर दी what we can okay अंदर नहीं है वो तो रिकॉर्ड हो गई है एक अश्लील प्रवचन और एक अभद्र प्रवचन इन दोनों को भी अश्लील दोष नाम है बंदे के जो है बंदे की तो आपकी साइड पर आ रही है ये एक है प्रवचन और एक है असलियत इशू शिया अपने की आवाज़ के रूप में है और एक एक एक एक एक बच्चे को बहुत दे रहे हैं ये किसी को बताओ तो सोचा तो बेटा तो आज तो ये दस्तकार को जो है एक एक को मार दे तो ये जाकर उस जल पर चलता खत्म कर देते तो जल को प्राण होता है जल को प्राणी की अभिषेक और दूध की अभिषेक श्री राधा जो ईर्षा सहित कृष्ण के साथ ईर्षा सहित जो दर्द है उसका वर्णन है भगवान ने समझा कृष्ण कहा से कहा शरीर आशा वह समझ और होने लगी है अचानक है कैसे काले आदमी से कभी किसी कभी नहीं चाहिए जितने भी कारण है वे सब पर और असली शिक्षा दूसरे कथा जैसे बताया कि असत माने श्याम जो व्यक्ति है उसके साथ में सच्ची चीजें मिलनी चाहिए सबसे आए हमने श्री राम को भक्ति सुन रहा हूँ ऐसे तो मेरे लोग क्या करेंगे उस हिंदुस्तान का भाग सर्व ऐसा है कि उसकी प्रसारण छोड़ना बहुत मुश्किल है उसको भेज दिया जा सकता है तो मैंने माध्यम से सब दिया हमें हमारी जातियों को अपने आकर्षण करने के लिए हम तंत्रवासी हैं हमारे पास में हम जाना है लेकिन हम उसने अपने जीवन का उनकी समृद्धि किसी भौतिक धार्मिक बाध्यता को भौतिक को आकर्षित करने के लिए अपने समृद्धि होता है इसी प्रकार भक्ति धार्मिक की समृद्धि को दिखा करके तब हृदय से वृद्धि जो दूसरे के वाला है तो उसकी चलाकी है चतुराई है कि अपने हृदय को दिखा करके दूसरे के चित्त को और इनको प्रभावित करके दूसरे के चित्त का हवाई कर तो वो प्रॉपर्टी से समझे आपकी तब ऐसी गति करें एक से मनुष्य कृष्ण में इसलिए अगर तो मात्रा है कृष्ण कैसे है कृष्ण में पर पुरुष जो कृष्ण रूप में पर पुरुष है ऐसे पर पुरुष है पर पुरुष का अर्थ है पर पुरुष सर्वश्रेष्ठ पर पुरुष के बाद एक रूप होना पर पुरुष aeroportos, enquanto nos ambientes coletivos, sem ser acostumado de um plano de combustível. Essa é a definição do milênio. Olha isso aqui, a discussão brasileira, से गुजरात का लोग है और सूर्य गुजरात का लोग है कृष्णा पहले बोले कृष्ण रूपी शिव परम गौतम शिव ये सूर्य शंकर का लोग है और सूर्य में जो अर्थ है एक से ऊपर अर्थ जो करते हैं तो भगवान के समझ से पर हृदय से और मानसिक भाव का हृदय को हृदय करने वाले श्री कृष्ण है ये कृष्ण का जो के लिए की बात क्या है तो कृष्ण सुंदर श्री श्याम श्री karsyon, tso, karsyon ya Asaf, mbehearted de honest ya karsyon yvan, alking jelo kvile na pasten yon ansiyon kICKALLEN pe anda loyal kursi wat nan brok рядan brok itch kykwa nan krisyant karsyon snge सो बलवंत और हर करते हुए श्री गुरुदेव का शाम से संदेश तो पाठ्या प्रति में संस्कार को सदा के कि भाव में शुरू से ये बलवंत के नाम के नाम से दूसरे तो को सुन दिया हम तो स्टैंडिंग सेंचुरी पर किसी तीसरे उस तीसरे दिन की आवश्यकता कृष्ण और कृष्ण के संतोष के वचन में लोग और संतोष के वचन में किसे रखते तो जहां अत्यंत अंतरंग जीवन का आशा है ऐसे अत्यंत अंतरंग व्यवसाय में किसी तीसरे व्यक्ति api kanc gon zart दर्शन से आवश्यकता जहाँ पलट नहीं नहीं ऐसे अपना दृष्टि घूम सके के लिए क्या आवश्यकता है तो कृष्ण के लिए ये किसी दूसरी की आवश्यकता नहीं है और श्री नारायण के लिए आवश्यक कृष्ण रूप में भी जितना भी करिए एक से दो और संबोधन का और किसकी देखिए तो किससे ये नाम बहुत सुंदर बहुत सुंदर नाम अंत इस समय हम को समझने के लिए अंत संचरित पर हम लोगों के लिए और उनसे जुड़ने के लिए शैक्षणिक वस्तु है वो आपकी होती ही है एक सही एक सखी है अंतरता सखी अंतरता सखी मतलब श्री राधा और कृष्ण के टुकड़े और कृष्ण और राधा के टुकड़े उसको देंगे अंतरता सखी दूसरी सखी है अंतरता सखी होने में श्रद्धा चिंता जो आभूषण खरीद करके मेरी सखी कौन मेरी सखी सखी एक मेरी तीन भगवान एक है कृष्ण है सखी हमारे कृष्ण का वंशी लड़की है वो वंशी सखी है कृष्ण की बहुत बड़ी लड़की है कृष्ण है जो पूर्वक उनका तुम्हें भगवान का लड़की है शिव की सखी है शिव है मेरी सखी है तो ये होगी कृष्ण दूसरी सखी हुई एक भगवान ये भाव ही दे रही कृषि Gracias. इसके और श्री अपने पड़ती है तो ग्यारह सौ हुआ था आप शाम सुनल ने श्री विद्यार्थी ने जब शाम सुनल घोषण कर रहे थे उस समय कि हाँ शाम सुनल का व्यक्ति दर्शन करेगा तो चक्षु में व्यक्ति करेगा शाम सुनल के घर में आने की तो नाश्ता लेकर पहुंचे तो नाश्ता भी सबको लगे हैं आप राजनीति करते हो तो किन चीजों को करते हो पांच नरेंद्र मोदी धर्म की प्राप्ति हो गई इस तरह धर्म की प्राप्ति हो गई और इस्लाम शब्द तो शब्द स्पर्श अब स्पर्श स्पर्श की कमी लगी और बस की कमी लगी आप जो स्पर्श होता है बैटरी सौ और भी जिंदगी है जी है और रस्सी में स्पेशल नहीं हो रहा है ऐसे मुस्कान को छीन लिया और मुस्कान को छीन कर छीन करके कहीं को बनाने के दिया उसी समय एक घटना घटी कि श्री राधा के घर में लज्जा रूप की एक सखी बीच में ही उन्हें और उस लज्जा रूप की सखी ने पता क्यों श्री भागवत ने संपूर्ण भावों की दोष की रक्षा की उसने किसी आदर के लोग अरे जिंदगी में ऐसे खर्च के लिए नहीं कर सकते जैसे बात करो भाई अपने ऐसे रचना रूप की शक्ति का तो रचना रूप की शक्ति में श्री रामचंद्र के द्वारा जो दुष्काल जाता है इसलिए आपने खुद को बनाया है जो अनाज रूपी दूसरी को जो नदी दबा दिया है और जो वस्तु आपको भी उसके साथ अंदर जो अच्छी तरह से मजबूत करके बना दिया ये कुछ पूरी पूरी पूरी को बनाया ये उचित नहीं है سعيد الشيخ كلك والعلقة ضمن سكين كلك والصدفة شيء وعندنا تشبيه مطلقة من دولة بالله تشبيه صنعها وتشبيه صنعها وتشبيه الصلاة والعلقة على الكلام شيء وعندنا كلك चंद्रमा ऊपर सर्वश्री शासन जाएंगे परमश्री बनाने जाएंगे और सबने हम इस कटाक्षी को पूरी तरह से कटाक्षी मान लेंगे बल्कि शब्द स्तर शब्द ट्रांसफर इन सारी गतिविधि को हे श्री कृष्ण आपको समर्पित करेंगे तो आगे कहो केवल शरीर ya ki %OZ DO CE vous dis pou将 klett che ьva ki ap sú mors ou m ostad ak kouten ak aposti 6 jek pe yon hasat a ti yo pou ou ke aktil Urban m BI неё m apos te vaz also and a tu kòm cyk lò syans kontop 지 te jan ak सकते हैं उस भाव को भी सही करो इस समय दान करते हो इस समय भावन बुद्धि की आवश्यकता होती है और शीघ्र अपने भाव को स्वयं बुद्धि में अपने आप को प्रकट कर देती है शांति नगर के भाव को स्वयं बुद्धि बदल के स्वयं ही प्रेम करते हुए तो यहाँ भी कहेंगे कि हमारा बुद्धि निकल संगत Si mè a fò peche ki fò to ki kò ji pa ve শিবির সংসদের প্রধানমন্ত্রী অবসর দিয়েছে সেটি আজকে তারপরে হ্যাঁ তিনি যদি পরে কি রক্ষা আজকে কি রক্ষা করতে রাজমানের তৈরি করে রাখা करके विद्यार्थियों को उनके का बाप का मान दिलाना है मैं सबसे बाबा के रश्मि को अच्छा करो ये मेरे को सब करने के लिए आप बोल रहे हैं सही चलती है वो सही चलती नहीं इस वजह से कोई भी सही चली है न भाई सही चली है न विमोचन सही चली है विमोचन के ऊपर खुद काम करेगा भाई को खुद ही काम करेगी बल्कि इसमें अंतर करता है लोग भरपूर रूपी सही चली है वही काम करेगी और उसके बाद अगर अल्पा करना सके केवल ज्ञान भक्ति का निर्माण का निर्माण होता है और यथार्थ संदेश ये संदेश देते हैं समय निर्माण करने इस्तेमाल हुआ अब की शांत में प्रार्थना संदेश दिया है प्रार्थना की सकी कि हे बाबा बोलने का तो बिल्कुल नहीं जो भक्ति शांत में के बोलने के तन को सुन कर्माने भगवान अस्तम जवान दिया उसका नाम है कर्म भगवान अस्तम अंश बताओ श्री Gje j République la si gjan pan apè j Shaykh अगर विशिष्ट आधार होती है ऐसी बुद्धि के द्वारा उनके अस्पष्ट शब्दों से बिल्कुल माने स्वर से गुरु लक्षाधारण अपने अपने अजीत है जिस राजा ने गुरुओं गुरुओं के प्रति लज्जा को भी गिरा है और जीत रहे हैं उसने उनको भेजा अकाउंट में भेजा उसको लेकर जिस राधिका आपके हृदय स्वर को सुनकर तुम जनों के बच्चों को भी पूरी तरह से नहीं कैसे समय को व्यतीत कर सकती है कैसे समय को Mwenye, mwenye, mwenye, mwenye, mwenye, mwenye. अलग से स्वरूप सुनकर के भी वही संभाली जिस लज्जा का त्याग नहीं कर सकती है ऐसी दूसरी लज्जा का भी जिन भूमि ने त्याग कर दिया देश का तब समय ऐसी व्यतीत कर सकती है तो आगे करनी है भरोसा आप मुझे बुलाएंगे को बुलाते बोलते भी बचे तुम लोग हनुमान सुन रहे कारण ये भगवान लोगों को छोड़ती निकाल के को भूल गए तो जबरदस्ती को भूल करके तब सही काम करते चलते चलते को बदल गए तो खुद को बदल देते चलते चलते काम करो वहां हमारे बच्चों को जब बच्चों को सिर्फ कॉल करके कहते बस आगे बढ़े उनको कहते हैं समय को बदल करने की जरूरत है चलते चलते ही अगर मुसलमान अगर मुसलमान जाने वाले वो काफी गलत गलत उसकी काफी दृष्टि उससे जो होती जो इसमें किसी तरह से मथुरा से बचकर यहाँ आए तो जवाब अच्छा हो और चैन चैन जैसे जन्म थे कब चाहते थे हमको अभी प्रधानमंत्री एक हम प्रधानमंत्री बने कि बुलाने को पूरी बुलाने के लिए द्वार खोले तो बच्चे ने ऊपर उबली तू जरा जोर से इसे कह देना इतना हाथ खड़े लग गया हम बोलते बंधन मन बोलते ब्रह्म मन बोलते शख्स मोटे बाजार पर एक महात्मा उठे नरेंद्र गर्मा कि उम्र की अल्लाह सुने कि भगवान की जन्म द्वारा काली धर्म लोग चल रही काली के विश्व की अग्नि चल रही है काली के विश्व की अग्नि दूसरा है जो सुनने को मारे कि बहुत अच्छा होगा ये कैसे अच्छा लग रहा है बीच में तो एक क्षण रोमांच भी जा रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि कंपनी कंपनी चल रही है कंपनी चल रही है और सुनने को मारे और अब कंपनी चल रही है सरस्वती तो बस आप कितना दिन और इसके माध्यम से गरीब शासन के पासने पात्र सभी देशों को सुनाया गया है वर्तमान अफ्रीक भोरा में दर्शकों यदि सरकार की कर्मचारी है तो बड़ी जरूरत है बड़ी सरकार है और सामने को विकास गरीब की समानता और कल्याण को विकास है और वो हमारे पास ശരീരം ആരംഭിക്കുക കർമ്മം സൂര്യൻ ആലോചന കർമ്മമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ लिए लगे तो उसमें अगर जो आपकी होगी कभी ऐसी होती है राम ने प्यार में मुझे मुझे बहुत तो ये दो फांसी पर प्रतिक्रिया राजनीति नहीं कर सकती उसमें और फांसी पर प्रतिक्रिया ये जरूर करेंगे कि लोगों का जो भारत के तरह का पहले मुझे मत मिला है तो उसको ki kishin. Tuken an ou de baye, tuken an palak, kwen an kande raye pou, asup jalan ti kati te kwen an mou la, jenou pake. Menjou la, kwen an kande raye pou, jenou kande raye pou, tuken an palak, jalan kande raye pou, jenou kande raye pou, jenou kande raye pou, asup jalan ti kati, te kwen an chi neon para mo sankel baby tipi ti ay par tira wan mangen konekRespekt chi ki te avan? kon karur pen kon kanvende nan an repent chiro se kon michi tou fik chiro se CHIO semane pou akè, pou akè pou akè, pou akè jen te chine tout pou akè eto tout pou akè apèlèkè pou akè, pou akè pou akè Kalau dia ada umur, berapa सर्वोत्तम करने के कारण श्री ने कृष्ण भक्तियों के साथ में विलास तो श्री राधिका को के बारे में जब स्मरण करके श्री कृष्ण के हृदय में नाम होती कटी तो हर काम में यहाँ किस करने में यहाँ किस करने में है वो नहीं कहा यहाँ किस करने में कल वाला और ये विशेष है कि ये कंट्रोल मंडल के सर्व भावनाओं में टीका करने नागरिक पति जब विराजमान है ऐसे जगत कृष्ण प्रभु का आनंद कृष्ण श्री कृष्ण प्रभु का कल्याण करने वाले Thank you. Thank you.